विक्रांत कुछ पल तक सोचता रहा और फिर उसे एहसास हुआ कि अदृश्य शक्ति ने जो उसे टूल दिया है वो असलियत में एक गैस टैंक है इसमें काफी ऑक्सीजन भरा हुआ है अगर वो कभी पानी के भीतर फंस जाता है या फिर ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ सांस लेने में मुश्किल हो तो ये वहाँ पर काम आ सकता है दरअसल विक्रांत को अदृश्य शक्ति द्वारा ये उपहार इसलिए दिया गया था क्योंकि उसका सक्सेस रेट छियानवे प्रतिशत का था तभी उसे लाइफ सेविंग टूल मिला हुआ था एक बार जब उसने खुद को मिले गिफ्ट को चेक कर लिया फिर उसे अचानक से आज के कोडवर्ड की याद आ गई आज सुबह अदृश्य शक्ति द्वारा उसे पहाड़ और पृथ्वी कोडवर्ड दिया गया था पहाड़ का मतलब तो विक्रांत के काम यानी प्रोफेशन से था तो ये उसे काफी पहले ही समझ में आ चुका था और आज विक्रांत ने इस कोडवर्ड के हिसाब से अपना टास्क भी पूरा किया था उसने मंजू के कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था ये विक्रांत का काम ही था और उसने इसे बेहतर तरीके से किया था शायद इसी वजह से आज उसका सक्सेस रेट भी छियानवे प्रतिशत था लेकिन यहां समस्या थी पृथ्वी की विक्रांत को अभी तक इस शब्द का मतलब नहीं समझ आया था आखिर पृथ्वी का क्या मतलब हो सकता है कहीं इसका मतलब किसी भूकंप या जलजले से तो नहीं क्योंकि आज ही उसे ये कोडवर्ड मिला था और आज ही उसे मंजू के मर्डर की खबर सुनने को मिली कहीं ऐसा तो नहीं कि जब भी पृथ्वी कोडवर्ड मिलेगा तो फिर कोई ना कोई बड़ा केस सामने आएगा फिर विक्रांत के दिमाग में आया कि आखिर आज मैंने इस पृथ्वी कोडवर्ड के हिसाब से ऐसा क्या किया जिससे मेरा सक्सेस रेट इतना ज्यादा रहा थोड़ी देर तक इस कोडवर्ड के बारे में सोचते रहने के बाद विक्रांत को इससे थोड़ा डर भी लगने लगा उसे एहसास होने लगा कि ये कोडवर्ड अच्छा नहीं है ये किसी न किसी अनहोनी का संकेत है आज ही उसे ये कोडवर्ड मिला और फिर तुरंत ही मंजू की मौत की खबर सुनने को मिली विक्रांत मन ही मन ये मनाने लग गया कि अब आगे से कभी ये पृथ्वी कोडवर्ड सुनने में ना आए तो ही अच्छा है इसके बाद विक्रांत ने अपनी जेब से सिगरेट निकाल ली और अदृश्य शक्ति के अगले कोडवर्ड को लेने के लिए रेडी हो गया सिगरेट जलाते ही उसके दिमाग में अदृश्य शक्ति का सिस्टम एक्टिवेट हुआ और विक्रांत को नया कोडवर्ड दे दिया गया नया कोडवर्ड था तूफान और पानी तूफान पानी की गहराई में समाकर इसकी लहरों को तबाह कर देता है विक्रांत अभी तक जितना इस अदृश्य शक्ति के सिस्टम को समझ सका है उसके हिसाब से तूफान का मतलब उसके स्टेटस से था आज उसे ये कोडवर्ड मिला था तो संभव है कि विक्रांत को आज प्रमोशन मिल जाए या फिर उसने जिस बहादुरी से साजिद को गिरफ्तार किया है उसके लिए उसे कोई सम्मान या पुरस्कार दिया जाए लेकिन विक्रांत को तूफान के बजाय दूसरा कोडवर्ड ज्यादा परेशान कर रहा था दूसरा कोडवर्ड यानी कि पानी पानी का मतलब लड़की विक्रांत सोच में पड़ गया कि आखिर अब कौन सी लड़की मुझसे मिलने वाली है लेकिन विक्रांत को पहाड़ कोडवर्ड का बेसब्री से इंतजार था क्योंकि वो अभी जल्द से जल्द किडनैपिंग केस को सॉल्व कर लेना चाहता था वो किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द उस केस की सारी सच्चाई सामने लाना चाहता था लेकिन टीम लीडर मंजू सचदेवा के अचानक मर्डर हो जाने के बाद से विक्रांत काफी असमंजस में था अभी भी मानो उसे मंजू की मौत पर यकीन नहीं हो रहा था विक्रांत इस वक्त जल्द से जल्द साजिद के इंटेरोगेशन के पूरा होने का इंतजार कर रहा था जैसे ही सीनियर पुलिस वाले साजिद को इंटेरोगेट कर लेंगे उसके बाद विक्रांत भी साजिद को इंटेरोगेट करेगा अब भले ही उसे अपने इकलौता लाई डिटेक्टर टूल खराब ही क्यों ना करना पड़े लेकिन फिर भी वो साजिद के मुंह से सच निकलवा कर ही रहेगा डी नगर पुलिस ब्रांच काफी बड़ा पुलिस स्टेशन था साथ ही यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट ऑफिस जैसे कि forensic lab cyber room old case department सब कुछ मौजूद था सो यहाँ पर लगभग हर सुविधा मौजूद थी पुलिस ऑफिसर्स के लिए रेस्ट रूम भी बना हुआ था लेकिन ये रेस्ट रूम अब तक स्टोरेज रूम बन चुका था यहाँ पर अक्सर ऑफिसर्स अपने सामान आदि भी रख जाते थे विक्रांत इसी स्टोरेज रूम में रात भर रुका रहा अब तक सुबह हो चुकी थी तभी वहाँ देव के साथ ही धीरे धीरे करके सभी पुलिस वाले लौटने लगे उन सभी को जो काम दिया गया था सभी वो निपटाकर लौट रहे थे रात भर दौड़ करने के बाद आखिर में देव ने उन सभी को ढूंढ लिया था जो उस रात साजिद के साथ क्लब में थे और जिन्होंने साजिद के साथ शराब और ड्रग्स आदि का नशा किया था देव ने उन सभी का बयान भी ले लिया था उनके हिसाब से साजिद जो कुछ भी कह रहा था वो बिल्कुल सही था मंजू के मर्डर वाली रात को साजिद ने खूब शराब पी थी और ड्रग्स भी लिया था वो बार से घर जाने के लिए अकेले ही निकला था उसके साथ कोई और नहीं था बार के पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी साफ दिखाई पड़ रहा है कि साजिद अकेले ही घर के लिए निकला है यहाँ तक कि सिचुएशन को देखकर तो यही लग रहा था कि साजिद बाहर से निकला और फिर उसने रास्ते में मंजू को रोका होगा और फिर लूटपाट के बाद उसका मर्डर करके घर भाग गया लेकिन लेकिन असली कहानी तो यहाँ शुरू हो रही थी दरअसल साजिद बाहर से निकला ये सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है इसके बाद उसकी अगली फुटेज में दिखता है कि साजिद मर्डर वाले स्पॉट के आगे से अपने घर की तरफ जा रहा था यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि साजिद कैसे मंजू का मर्डर करने वाले स्थान पर पहुंचा ये कंफर्म नहीं हो रहा है बार के बाद आगे वाले किसी भी सीसीटीवी फुटेज में उसकी वीडियो नहीं आई ऐसा लग रहा था कि वो बार से निकलकर अचानक से गायब हो गया और फिर मंजू के मर्डर वाले प्लेस पर पहुंच गया एक बार तो पुलिस वालों को शक हुआ कि हो सकता है कि साजिद किसी कैब या ऑटो में बैठकर वहां पहुंचा हो इसके लिए पुलिस ने उस इलाके के सभी ऑटो वाले और कैब वालों को भी इंटेरोगेट किया था लेकिन किसी ने भी साजिद को नहीं देखा था सबसे मजे की बात यह है कि खुद साजिद को भी ये नहीं याद है कि वो कैसे मंजू के मर्डर वाले प्लेस तक पहुंचा था